अनंत फल चार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय दुआ संख्या एक सौ इक्कीस के बाद सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीति वियोगी मानस रोग कछुक मैं गाये है सबके लख गिर नहीं पाए जाने देखी नहीं कछु पापी नाथ न पावै जन परितापी विषय कुपथ्य पाए अंकुरे मुनि हृदय का नर बापुरे राम कृपा ना सही सब रूगा जो यही भांति बने संयोगा सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यन विषय के आशा पति भगति सजीवन अनुपान श्रद्धा मति दूरी यही विधि भल ही सुरोग नशानी नानित जतन कोटि नहीं जाई जानी तब मन बिरज गुसाई जगौर बल गिरा अधिकारी तुम कुछ था बाधई नित नई विषयास दुर्बलता गई विमल ज्ञान जल जब सुनाई सबर राम भगति उछाई शिव यज सुख सन कादिक नारद ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्मत खगनायक श्री राम पद पंकज निहारि पुराण सब ग्रंथ कहानी रघुपति भगत बिना सुख नाही कमठ पीठ जामहि बरुबारा समझा सुख बर का हुई मारा बर बहु विधि फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला जाए बरु मृग जल पाना अभिजामयि तशीष दिशाना अंधकार बरुण सावे राम विमुख न जीव सुतावे हिमते अनल प्रगट बरु होई सुख राम सुख पावन कोई भारी के ग्रत हो ही बर सिखता ते बर तेल जिन हर भजन भव करी यह सिद्धांत अपेल

स्थितं वदामि ते नयन्यतावशान्ति मे हरिं नरा भजन्ति तेति दुष्करं करन्ति ते त्यावः की जय पवनसुत हनुमान की जय अभी करें कालभूषण जी और गौड़ के संवाद में गौड़ ने सात प्रश्न किए उनका अंतिम प्रश्न भवरूप ये जो रूप है व्यक्ति को मानस रूप ये क्या है उनका वर्णन किया बताइए मोह समस्त जितने भी मानसिक रोग हैं उनका मूल कारण मोह अविद्या ज्ञान और संसार में विश्व में आसक्ति दिल में आसक्ति यही समस्त मानसिक रोगों का कारण है फिर हमने जरूर बता दिए कि किस प्रकार के काम रोग लोग लोग मत मत ये सबके सब रोग उसी प्रकार के हैं जैसे कि शरीर में रोग मिल जाते हैं शरीर के लोग जो होते हैं उनका कारण जो है बात शुद्ध तप और मानसिक रोग का कारण है काम क्रोध लोग ये तीन ये है मानसिक विकारों के कारण मूल कारण यही है जो भी बढ़ गया काम बढ़ गया तो उसके कारण से अनेक रोग लग जाते हैं क्रोध बढ़ गया तो उसके कारण अनेक रोग हो जाते हैं लोग बढ़ जाता है तो उसके कारण अनेक रोग हो जाते हैं और काम क्रोध लोग तीनों बढ़ जाए तो होगा फिर तो उसको असाध्य हो गया फिर तो उसको दिमाग ठीक ठिकाने नहीं रहेगा पागल ही जाएगा इस प्रकार से ये सब मानस मानस रोग है छल प्रपंच मच्छर दम्भ पाखंड ये सब के सब अहंकार आदि जो ये सब रोग बता दिए सब मानस रोग जो है इसे उत्पन्न होते हैं अभी कहते हैं ये सब वैसे तो व्यक्ति एक रोग किसी को लग जाता है उसके कारण प्राण चले जाते हैं लेकिन इतने मानस रूप लिए जीव घूमता रहता है और व्याकुल भी रहता है लेकिन अब उसको पीड़ा पाते रहते हैं काम ही पीण संतत जीव कहूँ सुख मिलाई समाधि उसे विश्राम नहीं मिलता इन लोगों से पीड़ित घुमा करता है जीव अब ये बताते हैं देखो इन रोगों का समाधान किस प्रकार से वो स्कूल कराते हैं रोग ठीक है उपचार कैसे हो यही विधि सकल जीव जग रोगी कहते हैं देखो संसार के सभी जीव जितने सब हैं सब मानसिक रोगों से ग्रसित हैं मनुष्यों की तो बात ही क्या अन्य अन्य जीव भी इसी प्रकार से मानस रोगों से ग्रसित हैं उनके साथ भी यही समस्या है काम क्रोध आदि विकार उनके साथ भी है उसी से पीड़ित अन्य भी है मनुष्य भी उसी प्रकार से उन्हीं से पीड़ित हैं सब मोह अविद्या में सभी है जब तक जीव है तब तो जीव के माने अज्ञान जो मोह में ग्रसित है उसी का नाम जीव है और जब मोह में ग्रसित है तो अज्ञान रोग उसके साथ होने होने हैं इसलिए बोलिए कि यही भी सकल जीव जग रोगी सभी जीव रोगी ये मानस रोग जीव के हैं शारीरिक रोग शरीर के हैं एक शरीर छूट गया तो वो शरीर का रोग खत्म होगा दूसरा शरीर मिल जाएगा तो शरीर में रोग नहीं होंगे नया बचपन आ गया नया शरीर मिल गया तो उसमें रोग नहीं होंगे लेकिन जीव के जो रोग है मानसिक रोग वो तो एक जीवन में नहीं है शरीर छोड़ करके दूसरे जीवन में जाएगा तो वो रोग उसके साथ ही जाएंगे जहाँ जहाँ जीव जाएगा तहाँ तहाँ उसका रोग जाएगा जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में रोग हो तो चाहे कानपुर में रहे चाहे बम्बई में रहे चाहे दिल्ली में रहे जहाँ जाएगा तहाँ का शरीर जहाँ जाएगा तहाँ उसका रोग जाएगा ऐसे जीव जो है वो जीव के जो अपने रोग है वो मानसिक रोग है और जीव एक शरीर छोड़ करके जहाँ जाएगा दूसरे तीसरे शरीर पर वहां उसके साथ रोग जाएंगे ये जीव को पी रहे हैं संतत जीव को संतत के माने एक ही जीवन में नहीं आगे आने वाले सभी जीवनों में ये मानसिक रोगों से जीव पीड़ित रहते हैं ये भी सकल जीव जग रोगी और शोक हर्ष भय प्रीत भी होगी ये उनके रोगों के लक्षण है जब किसी के रोग होते हैं तो शारीरिक रोग तो उसके लक्षण देखता है डॉक्टर हो गए तो रोगों के लक्षण हर शोक जो है वो इन रोग के कारण होता है रोग तो हो गया अविद्या के कारण मोह के कारण और जो भी रोग उसको जीव को जब तक रोगी जीव रहेगा तब तक उसे हर्ष विषाद भी होगा ये हर्ष विषाद दोनों ही उसके रोग के लक्षण है कैसे पता लगे कि जीव अभी अज्ञान में है कि ज्ञान में आ गया परमात्म ज्ञान में हो गया अब जीव का ज्ञान मिट गया अब जीव भाव नहीं रह गया आत्मा आ गया तो जब जीव के जो लक्षण है वो लक्षण न हो तो जीव के लक्षणों में से हर्ष विषाद जीव के लक्षण है हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमति अभिमान जीव के ये जो है लक्षण है हर्ष विषाद जीव के लक्षण जब जीव के लक्षण कहते हैं तो ये नहीं कहते जीव की बड़ी अच्छी बात है गुण है ऐसा नहीं है जीव के लक्षण है मैंने जीव अपने अज्ञान के काल से हर्ष विषाद जैसे समस्याओं से ग्रसित है जीव का जो हर्ष है वो भी रोग है रोग का लक्षण है और जीव का जो विषाद है वो भी रोग का लक्षण है आत्मज्ञानी व्यक्ति को परमात्मा में स्थित रहने व्यक्ति को न हर्ष है न विषाद है अब ये शास्त्र को देखो तब बात पता चलती है इनको संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि दुख न हो सुख हो ये ऐसा क्यों चाहता है लोग जीव है लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति क्या चाहते हैं कि न हर्ष हो न विषाद हो फिर क्या हो हर विषाद न हो सदा आनंद रहे में हर्ष विषाद दोनों में आनंद में और हर्ष में अंतर है साफ दिखाई देता है कि हर्ष विषाद में सापेक्ष है हर्ष होगा तो कभी विषाद होगा विषाद होगा तो कभी हर्ष होगा ये रिलेटिव टर्म्स है सापेक्ष स्थितियां हैं आनंद सापेक्ष नहीं आनंद सहज स्थिति अपने स्वरूप की सहज स्थिति विश्राम की स्थिति उसमें न हर्ष समय विषाद अपने स्वरूप में स्थित है इसलिए ये हर्ष विषाद है ये उसी के जीव के रूप के लक्षण है हर्ष विषाद और भय और प्रीति ये सब जीव के लक्षण है भय अब भय के अनेक कारण मृत्यु का भी भय धन के नाश होने का भी भय अर्थात का भय दृढ़ता का भय मिल जाने प्रकार के जीवन में अनेक प्रकार के लोगों को भय देता तो वो सब भय जीव को ही है आत्मा को कोई भय नहीं आत्मज्ञानी परमात्मा ज्ञानी है उनको भय छूट गया भय छूट गया तो समझो अब जीव स्वस्थ हो गया जीव के लक्षण समाप्त हो भय जो है वो जीव का ही लक्षण है और प्रीति वियोगी हाँ कहीं प्रीत है कहीं वियोग है कहीं संयोग है कहीं वियोग है ऐसे कह सकते हैं कहीं संयोग है कहीं प्रियजनों का मिल जाना संयोग है प्रियजनों का विशोग हो जाना वियोग है ये भी जीव के लिए है जीव के लिए मैं पर कुछ तो संबंध कुछ व्यक्तियों से है अनुकूल संबंध है प्रतिकूल संबंध है किसी के साथ मिलकर के प्रसन्नता है किसी के साथ मिलकर के अप्रसन्नता है ये अब जब आसक्तियां व्यक्ति की होती हैं तो उसमें उनसे प्रीति होती है उनसे राग होता है अगर उनके चले जाने पर वियोग दुख होगा तो अब ये ये सब जीव की समस्या है संकेत में थोड़ी सी बातें बता दी इसी प्रकार से और भी है जीव की ये सब जीव भाव के ही लक्षण है जब कह दिया कि जीव जग रोगी जीव रोगी है तो ये सब जीव के रोगों के लक्षण बता दिए जीव के रोगों के लक्षण के माने जो जीव के रोगों के लक्षण है वही जीव भाव के लक्षण है जीव जो रोग समाप्त हो जाए तो जीव भाव ही समाप्त हो जाए जैसे जो अस्पताल में गया तो उसकी पक्षियां बनती हैं किनकी पक्षियां बनती है रोगियों की तो उसमें लिस्ट रोगियों की बनती है हाँ? और अगर मान लो उनके साथ में आते हैं कोई जो रोगी नहीं है तो उनकी भी लिस्ट बनती है तक कहलाएगा व्यक्ति जब तक रोग होगा और जब रोग नहीं होगा तो हम्म, अब उसको क्या कहेंगे रोगी नहीं है स्वस्थ है वो किसी प्रकार से जीव किसी को कब तक कहेंगे जैसे रोगी कह कहलाता जैसे जीव कहलाता जीव मन तो रोगी मानसिक रोग से ग्रस्त तो सब जीव अब जो जीव भाव जो जीव भाव न रहे मानसिक रोगों से ग्रस्त न हो तब क्या है अब जीव कुट में नहीं आएगा हम्म? और उसके लिए जीव थोड़ा बोलेंगे अब जब कहते हैं जीव सब रोगी तो जीव को रोगी कहा जाएगा और उनके ये लक्षण होंगे हर्ष विशाल और पीठ वियोग और भय इत्यादि ये सब उनके लक्षण होंगे मानस रोग कश्यप में गाये अब कहते जो स्वामी हमने कुछ थोड़े से मानस रोगों का वर्णन किया मैंने ये पहले भी कह आए हैं कि ऐसे बहुत बहुत से लोग हैं एक ये कहते हैं कहा लग कहा रोग अनेका ये रोग जो है ये अनेक रोग हैं इनका वर्णन कहाँ तक करें तो फिर कह दिया कि मानस रोग कचुक में गाय ये मत समझ लेना कि स्त्री होते हैं ऐसे बहुत से रोग हैं और भी और हैं सबके लख बिरले ही पाए एक बात और कोई कहते ये भी देखो तो कि भाई ये रोग है ये है कोई कहे कि हमको नहीं है सुबात नहीं है सबको जो लोग समझते हैं कि हमको मानसिक रोग नहीं है बस यही बात है कि अपने रोग को पहचान नहीं पाते ये कहने के तात्पर्य कोई ये न समझे कि हमको मानसिक रोग नहीं है इसलिए हमारी छुट्टी हम पौने रोगियों के चक्कर में थोड़ी रिश्ते में थोड़ा आते हैं जो मानस रोग होंगे तो मानस रोगी कोई समझ ले मानसिक रोग के माने हैं जैसे पागलपन होते हैं जब नॉर्मल हो जाते हैं लोग बात मेंटल हो जाते हैं तो वो मानस रोग है तो क्या हम तो ठीक है हमारा कौन मानस रोग है मैं कौन दिमाग खराब है हम तो अपने ठीक ही ऐसे समझेंगे तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है आप समझो न समझो है सबकी मानस रोग अभी जितने ये रोग बताए इन रोगों को देखो तो देखो नहीं तो ऐसे ही देखो हर्ष विषाद होता कि नहीं होता है होता है तो ये काय के लक्षण है मानस रोग का अभी विश्वास नहीं कि मानस रोग अपने है कि नहीं है बीज वियोग होता है कि नहीं होता है भय होता है कि नहीं होता भय तो एक ऐसा है का भय मित्र मन के सामान्य तद पशु भी नाम भय तो बताओ भय है कि नहीं है हाँ? है किसके माने तो हम्म? भोग नहीं है भय लगता ही है इसके माने रोग भी है तो इससे ये पता चलता है कि रोग है सबके लिए हम्म? लक्ष्य गिर नहीं पाए आपके बहुत कोई व्यक्ति जो है बहुत बदले मैंने एक आध व्यक्ति जो है इनको जान पाते हैं कि ये हमारा रोग जैसे कोई क्रोधी व्यक्ति होगा तो क्रोध तो उसका एक रोग है लेकिन वो ये नहीं समझेगा कि हमारे अंदर ये रोग है ये त्याग देना चाहिए या इसका उपचार कराना चाहिए ये नहीं समझे वो समझेगा कि क्रोध है हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्रोध क्रोध के कारण हम तो बहुत लोगों को हलाकान कर देते हैं पराजित कर देते हैं अपने क्रोध के कारण और अच्छाइयां क्रोध में मृत्यु समझेगा और ये नहीं समझ में आएगी कि हमारा मानसिक रोग ऐसे लोग है व्यक्ति का तो लोभी व्यक्ति अपने आप को बड़ा चतुर समझता है कि देखो तो हम एक झेला खर्च नहीं करते सत्ता बैठे रख लेते हो मेरे पास इतना है और वो पागल है लोग जो फिजूल में खर्च कर देते हैं उनके पास कुछ नहीं रहेगा मैं कितना होशियार हूँ उसे ये नहीं लगता है कि लोग जो एक मानसिक रोग है पता ही नहीं चलता उसको तो ये सब दो रोग होते हैं व्यक्ति के लेकिन इन रोगों को पहचान नहीं पाते कि ये रोग है क्यों रोग है ये अब जब जिसको रोग होते हैं तो पीड़े ही संतति अब संतत पीड़ रही माने अब ये हमेशा ये पीड़ा पहुंचाते हैं और पीड़ा भी पहुंचाते रहेंगे तो व्यक्ति अपने मानसिक रोग की कितना नहीं समझ पाएगा ये समझेगा कि इस व्यक्ति ने पीड़ा दी उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया दूसरे लोगों को गिनाते रहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया देखो मैंने उसके साथ ऐसा किया उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया हमने ऐसा किया उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया उसने साथ हमारा साथ ऐसा कर दिया बस उन्हीं को गिनाता रहेगा और उन्हीं के कारण से अपने दुख मानता रहेगा तीन इन लोगों के कारण से हमको दुख हो गया तो ऐसे मानसिक रोगी लोग बात जाएंगे इसी प्रकार से बड़बड़ाते रहते हैं व्यर्थ ही बातें करते रहते वैसे जो है ये है सबके अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता कि जो भय शोक इत्यादि हमको हो रहा है ये हमारे ही मानसिक रूप के कारण हो रहा है ये समझ नहीं पाते बिरले समझ पाते अब बिरले समझने की माने कौन बिरले लोग समझ पाते हैं <coughs> अब इनको वैसे तो शास्त्र का अध्ययन करने से पता चले अगर कोई शास्त्रों का अध्ययन करे तो वहां पर इनका उल्लेख आवे तो समझे सत्संग करे तो सत्संग में इनकी चर्चा आवे वहां पर दोस्त को समझ में आवे न शास्त्रों का अध्ययन न सत्संग व्यक्ति संसार जब जितने भी संसार में समाज में सबके सब मानसिक रोगी हों तो उन रोगियों के बीच में स्वयं भी रहे तो व्यक्ति क्या कहता है अरे ये तो सब करते हैं अरे ये तो सबको होता है अरे ये तो सबको होता है बस उसका ये कही उत्तर ये तो सबको होता है कि भाई तुम तो बहुत क्रोध करते कौन नहीं क्रोध करता सभी क्रोध करते तो फिर सब क्रोध करते तो तुम्हारा क्रोध जो है तुमको दिखता ही नहीं होगा तुमको करने देगा अरे सबको होता जो होता वही अब इसके आगे नहीं सोच पाता तो जब सब जैसे रोगी व्यक्तियों के बीच में वो रहेगा तो वो देखेंगे ये रोग सबको है इसलिए हमें भी रोग है तो कोई चिंता की बात नहीं और रोग भी नहीं उनको माने चिंता की बात क्या उनको रोग ही नहीं माने लेकिन जब ऐसे ग्रुप में से बाहर निकले जैसे सत्संग है जिनमें से कुछ लोगों को ये रोगियों की कमी रोग हो कम हो रोग ये स्वस्थ हो रोग न हो उनके पास बैठे उनके पास जाए वहां रहें तब उनको पता चले कि अरे ये हम तो मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं शास्त्रों का अध्ययन करे तो उसको जानकारी मिले कि अरे ये तो हमको रोग हो गए इनसे हमें छुटकारा पाना तो कहने के इनका तात्पर्य ये कि रोग है सबके लेकिन लोग बाग ध्यान ही नहीं देते कि हमें मानसिक रोग है और इनके कारण से हम दुखी हैं तो शास्त्र का एक काम ये भी है बताना कि देखो तुम अपने आप को दुखी नहीं मानते हो लेकिन दुखी हो तो अपने आप को चाहे इतना खुश समझते हो चाहे इतना भाग्यशाली समझते हो लेकिन तुम न सुखी हो न भाग्यशाली हो लेकिन तो तुम मानते हो तुम बड़े भाग्यशाली हैं बड़े सुखी इसमें क्या भाग्यशाली क्या क्यों नहीं है जो सुखी नहीं है तो दिखाएंगे कि देखो ये ये तुमको है परेशानियां कि नहीं परेशानियां देखो इस प्रकार की भाई चिंता तुमको लगता कि नहीं लगता ये सब दुख ही है इन दुखों को दुख नहीं समझते तो जल्दी जल्दी बात व्यक्ति मानेगा नहीं क्या ये तो सबको होता है क्या बस ऐसे करके उनको संतोष कर देता इसलिए कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलते कि रोग हैं और दुखी भी होते रहते हैं तो जाने से चीजें ही छुपाती अब कहते हैं कि देखो एक इसका सूत्र यही है कि जिन लोगों को ये भी पता चल जाए कि मानसिक रोग है और ये दुखदायी है संतर पी रही जीव को जीव को हमेशा ही दुख देने वाले हैं तो इतना भी कोई व्यक्ति हो जाएगा तो सावधान हो जाएगा और जहाँ तक उसका बस चल, बच चलेगा तहाँ तक इन लोगों को से अपना छुटकारा करने की कोशिश करेगा क्रोध आएगा तो क्रोध से बचा रहेगा कुछ कहेगा क्रोध करना बेकार है लोग होगा तो लोग से अपने आप को बचे रखने की कोशिश करेगा लोग ना काम बढ़ेगा तो उसको अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा कि सब हानिकारक है काम को लोग आदि को से अपने आप को व्यस्त करता रहे बचाने की कोशिश करेगा कि न बढ़ने पावे इनको सावधान रहने की कोशिश करेगा इतना ही कर लेगा कम से कम लेकिन फिर भी ये सब एकदम से किसी व्यक्ति को अपने आप संयम रखने से इन रोगों से अपने आप को रोगों को दबाने से रोग भी खत्म थोड़ा हो जाते हैं जाने के चीजें कछु पाती और नाश न पावे जन परिताती लेकिन ये नाश नहीं होते जान लेने से नाश नहीं होंगे जान लेने से नाश नहीं होंगे जिसके माने ये है कि अगर किसी व्यक्ति को पता लगे कि अहंकार एक बहुत बड़ा रोग है और वो अहंकार का रोग हमें भी मालूम हो गया कि हमको भी अहंकार का रोग है और लोगों की तरह से भले ही वो अहंकार न करे अहंकार उसका प्लाइट हो जाए अहंकार ज्यादा जोर से अहंकार न करे धप धप करके अपना अहंकार रखे लेकिन अहंकार जो है वो बिल्कुल जाएगा नहीं उसका दबा रहेगा लेकिन मिटेगा नहीं और मिटेगा नहीं तो कहते हैं जन परिपाती तो ये लोग जो है ये लोगों को दुख देने वाले परिताप मने पीड़ा पहुंचाने वाले दुख देने वाले ये कोई जितने मानसिक रोगों को सुविधाई थोड़े अगर कोई व्यक्ति को रोग है और अपने रोग को थोड़ा बहुत वो दबा भी लेता है तो दबा लें लेकिन उससे रोग उतने से नष्ट नहीं हो जाते रोगों को नाश करने के तरीके ही अलग है ये कहना चाहता कभी कभी कोई कहेगा आपने पता नहीं था क्रोध एक दोष है अब क्रोध अगर एक दोष है मानसिक रोग तो हम क्रोध नहीं करेंगे ऐसे सोच लेता नहीं करेंगे क्रोध लेकिन फिर देखेगा वो कि उसका क्रोध रुकता नहीं करा जाता तो अब उससे पूछो तुमने तो कहा था क्रोध छोड़ देंगे अभी कैसे आ गया एक गलती से आ गया आपके तो बाद दोबारा नहीं आएगा अब लेकिन वो देखे क्यों ऐसा होता है कि वो समझता है कि हम क्रोध नहीं करेंगे लेकिन वो आ जाता है इसके माने भीतर की छिपा बैठा रहता है उसका नाप नहीं हुआ इसलिए उभर आता है इसके माने जिस समय की व्यक्ति शांत तो क्रोध न कर रहा हो तो ये तो क्रोध विहीन व्यक्ति है उसके अंदर क्रोध के बीच बीज उसके छिपे हुए हैं जब अनुकूल स्थिति आती है तो वो क्रोध प्रकट हो जाता है जैसे अनुकूल वातावरण आता है तो बीज जमे आता है ऐसे क्रोध जो है तत्काल जहाँ अनुकूल वातावरण मिला उसके लिए क्रोध के लिए उभरने के लिए काम जट से निकल आता है तो ये छिपे रहते हैं सब रोग मानसिक रोग जितने हैं ये भीतर छिपे हुए हर समय थोड़े दिखाई देते हैं लेकिन है सब छिपे हुए भीतर और दुख देते रहते हैं लोगों को ये कहते हैं विषय कुपत पाए अंकुरे अंकुरे से मालूम पड़ता है कि ये मानस रोग बीज की तरह से छिपे रहते हैं जैसे पृथ्वी बीज छिपा रहे मालूम पड़े कि कुछ नहीं लेकिन वही अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होकर के मौसम मिल करके पानी गर्मी प्राप्त करके भी जमे आता है ऐसे ही सब रोग काम क्रोध अहंकार लोग लोग मत्सर ये नाना प्रकार के रोग हैं ये रोग जो है वो लोगों के भीतर है और छिपे हुए बीज की तरह से पड़े हुए और वो व्यक्ति को दुख भी देते रहते हैं व्यक्ति जान नहीं पाता लेकिन कभी कभी ये रोग जो है ये भड़क उठते हैं तब हाँ, कहते हैं कि विषय कुपथ से पाए बुरे विषय रूपी कुपथ से पा करके ये रोग पैदा हो जाते हैं अंकुरे शब्द देने से तो ये बता दिया कि उनको बीज से नहीं उनकी तुलना कर सकते हैं बीज की तरह छिपे रहते हैं लेकिन मुख्य तुलना तो चल रही है शारीरिक रोगों से जैसे शरीर में किसी व्यक्ति को रोग होता है तो कोई रोग दबा हुआ है तो जब तक दबा है तब तक दबा है लेकिन जैसे उसने कोई कुपथ लिया है वैसे वो दबा हुआ रोग प्रकट हो गया तो पत्य के माने है बद परहेजी कर दी जहां कुछ गड़बड़ कर दिया अब किसी के पेट में कोई रोग है तो अपने खाने आने संज्ञा लेने रखता है तब तक उसका चलता रहता और किसी वक्त उसने खाने में उसने जहां गड़बड़ कर दी नुकसान करने वाली कोई चीज खा ली तो उसमें पेट में वैसे ही इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उसको हजम कर पावे कैसे वो लोग जो उसका पेट का था वो फिर प्रकट हुए तो इस तरह से ये जैसे रोग शरीर के रोग यहाँ रहते हैं जब तक परहेज किए रहते हैं तब तक वो दबे रहते हैं और परहेज नहीं हुए हाँ एकदम से शरीर के रोग प्रकट हो जाते हैं तैसे तो मानसिक रोग भी दबे रहते हैं और जहाँ इनका बद परहेजी इनकी हुई हाँ पैसे ये कुपथ हुआ जैसे ये रोग पैदा हो जाते हैं विषय सुपथ्य अब यहाँ कुपथ्य क्या है विषय कुपथ्य शारीरिक रोगों में दूसरे कुपथ्य खाना भी कुपथ्य हो सकता है सर्दी गर्मी भी कुपथ्य हो सकते हैं अधिक काम कम काम ये भी कुपथ्य हो सकते हैं अब मानसिक रोगों में कुपथ्य क्या है ये विषय जितने हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सब कुपथ्य है ये मानसिक रोगों को बढ़ाने वाले हैं विषयों की व्यक्ति कामना करेगा उनको भोगेगा उनमें लिप्त रहेगा रमण करेगा तो उसके रोग जो है बढ़ेंगे ये नियम बता अब ये ऐसा क्यों होता है ये ये तो कोई व्यक्ति ध्यान दे और करके देख ले विषयों का त्याग करके देखे और विषयों के भूख करके देखे अपने आप पता चल जाएगा कि मानस रूप कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं तो कहते हैं विषय सुपथ तो पाए अंकुरे और मुनि हृदय का नर बापुरे मैंने पहले ताज है सबके लग बिजली पाए यहाँ एक बात कह दिया कि जो मुनि लोग हैं मुनि के मैंने आत्मज्ञानी परमात्मा ज्ञानी है परमात्मा का ज्ञान है परमात्मा को भी जानते हैं ऐसे लोग हैं वो हो वो उनके हृदय में भी ये रोग छुपे रहते हैं का नर बापरे मैंने साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है उनको तो है भारत में आता है कि